तुम उन मुंह बोले बेटों को उनके बाप के ही नाम से पुकारा करो यह तरीका अल्लाह के नज़दीक पूरे इंसाफ की बात है फिर अगर तुम्हें उनके बाप मालूम ना हो तो वो तुम्हारे दीनी भाई हैं और तुम्हारे दोस्त हैं और उस बात पर तुम पर कोई गुनाह नहीं है जो तुमने गलती से कही लेकिन उस पर गुनाह होगा जिसका इरादा तुम्हारे दिलों ने जानबूझकर किया हो और अल्लाह बड़ा ही बख्शने वाला निहायत रहम फरमाने वाला है